मेरे प्रिय आदमी पिछली चर्चाओं के संबंध में बहुत से प्रश्न पूछे गए एक मित्र ने पूछा है कि आप समाजवाद या साम्यवाद की जो आलोचना कर रहे हैं उसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लोकतांत्रिक समाजवाद के संबंध में शायद आपने विचार नहीं किया है इस संबंध में थोड़ी बात समझनी उपयोगी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या लोकशाही समाजवाद आत्मविरोधी शब्दों से निर्मित हुआ है जैसे कोई कहे वंध्या पुत्र बांझ स्त्री का बेटा अगर कोई कहे तो जैसी गलती होगी वैसी ही गलती है अगर बेटा है तो स्त्री बांझ न रही होगी और अगर स्त्री बांझ है तो बेटा नहीं हो सकता इसलिए बंध्या पुत्र शब्द तो बनता है सत्य नहीं होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जैसी कोई चीज नहीं है लोकशाही समाजवाद जैसी कोई चीज नहीं है शब्द भर है क्योंकि समाजवाद लाने में ही लोकशाही की हत्या करनी पड़ती है लोकशाही की बिना हत्या के तथाकथित समाजवाद नहीं लाया जा सकता इस बात के फर्क को समझ लेना उचित है कि लोकशाही की हत्या क्यों करनी पड़ती है डेमोक्रेसी या लोकशाही का पहला उसूल ये है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को जीने कमाने खाने अर्जित करने इकट्ठा करने की स्वतंत्रता देते लोकशाही का बुनियादी आधार ये है कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो पाए और लोकशाही का ये भी बुनियादी आधार है कि बहुमत अल्पमत पर अन्याय ना कर सके अगर एक गांव में सौ मुसलमान हो और दस हिंदू हों और वे दस हिंदुओं की हत्या करना चाहें और कहें कि हम लोकशाही के ढंग से हत्या कर रहे हैं क्योंकि सौ लोग कहते हैं कि हत्या करो और दस लोग कहते हैं कि मत करो मत हत्या करने के पक्ष में है ज्यादा लोग पक्ष में है इसलिए ये हत्या जो है डेमोक्रेटिक है तो हम कहेंगे गलत है ये बात लोकशाही का मतलब ही ये है कि बहुमत भी अल्पमत पर अन्याय न कर पाए अगर एक का भी अल्प मत हो तो भी पूरे देश का बहुमत उस पर अन्याय न कर पाए पूंजीवाद या पूंजीपति अल्प मत है समाजवाद जिस बहुमत की बात कर रहा है और जिस बहुमत की बात लेके चलता है वो अल्प मत को नष्ट करने के लिए लोकशाही का उपयोग करे तो लोकशाही का बुनियादी आधार गिर जाता है और आज एक अल्पमत है कल दूसरा अल्पमत है आज कुछ लोग कहते हैं कि संपत्ति बढ़नी चाहिए किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम न हो क्योंकि संपत्ति ने एक ईर्षा को जन्म दिया है लेकिन पूछना जरूरी ये भी है कि जिन लोगों ने संपत्ति पैदा नहीं की जिन लोगों ने संपत्ति के उत्पादन में और सृजन में कोई भाग नहीं बटाया जो चुपचाप खड़े देखते रहे लेकिन अर्जित हो जाने के बाद संपत्ति की मांग और बंटवारे की बात भी जरूर कर रहे ये न्यायपूर्ण जस्ट जस्टिस की धारणा नहीं है ये बड़े मजे की बात है कि जब भी कोई बड़ा आविष्कार हुआ जिससे दुनिया में संपत्ति आई तो उस आविष्कार को बेचना भी मुश्किल हुआ आविष्कारक हमेशा पागल मालूम पड़े मैंने सुना है एक बहुत बड़े आविष्कार को लेकर एक वैज्ञानिक कई लोगों के पास गया वो पचास रुपए में भी बेचने को राजी था लेकिन कोई लेने को राजी नहीं था क्योंकि बात पागलपन की मालूम पड़ती थी कार की पहली डिजाइन भी पागलपन था और हवाई जहाज की पहली डिजाइन भी पागलपन था कोई लेने को तैयार नहीं था जिस आदमी ने लेने की हिम्मत दिखाई उस डिजाइन को और उस हिम्मत को दिखा के एक संपत्ति के उत्पादन का नया द्वार खोला वो आदमी जब संपत्ति पैदा कर लेगा तो वे जो चुपचाप हंस रहे थे कि ये डिजाइन पागलपन की है ये संभावना गलत है जब संपत्ति अर्जित हो जाएगी तब वे कहेंगे कि हम इसमें भागीदार क्योंकि संपत्ति सबकी संपत्ति बहुत थोड़े से लोगों ने पैदा की है और उन थोड़े से लोगों ने जब पैदा कर ली है तो जिन्होंने पैदा नहीं की है वे मालकियत के लिए जरूर दावेदार है डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है लोकशाही का मतलब ये है कि जो जिसने पैदा किया है वो उसका मालिक है अगर वो बांटता है तो ये उसकी खुशी है लेकिन मांगने वाले का हक नहीं हो सकता और अगर इसे मांगने वाले का अधिकार बनाया जाता है तो ये बात कहाँ रुकेगी कहना कठिन है संपत्ति भी प्रतिभा से पैदा हुई है आज हम संपत्तिशाली प्रतिभा से पीड़ित हैं हम कहते हैं संपत्ति बांट दो कल हम कहेंगे कि कुछ लोगों के पास सुंदर स्त्रियां हैं और कुछ लोगों के पास कुरूप स्त्रियां हैं ये अन्याय नहीं कहा जा सकता ये असमानता नहीं देखी जाती सुंदर स्त्रियों पर भी सबका समान अधिकार होना चाहिए गलती नहीं होगी तर्क वही है तर्क में कोई भेद नहीं परसों हम कहेंगे कि कुछ लोग प्रतिभाशाली हो बुद्धिमान हो और कुछ लोग मूल और अज्ञानी हो ये बर्दाश्त के बाहर है असमानता नहीं सही जाती बुद्धि का ठीक ठीक समान वितरण होना चाहिए तर्क वही है लेकिन तर्क बिल्कुल एंटी डेमोक्रेटिक है एक एक आदमी अलग है एक एक आदमी की अलग क्षमता है एक एक आदमी अलग को खोजेगा निर्मित करेगा बनाएगा उसकी मालकियत भी उसकी अगर वो बांटता है ये उसकी खुशी लेकिन मांगने का हक अन्याय है लेकिन समाजवाद बहुत से अन्यायों को स्वीकृति देता है क्योंकि अन्याय के लिए बहुमत को राजी किया जा सकता है बहुमत के राजी होने से अन्याय न्याय नहीं हो जाता और न असत्य सत्य हो जाते व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और लोकशाही उस अधिकार को स्वीकार करती और जब कोई कहता है लोकशाही वाला समाजवाद तो झूठी बात कहता है क्योंकि लोकशाही की बुनियादी बात उसने तोड़नी शुरू कर दी दूसरी मजे की बात है कि समाजवाद जिन मूल्यों पर खड़ा हुआ है तो वे मूल्यों की सिर्फ वो बात करता है उन्हें ला नहीं सकता थोड़े से वैल्यूज की चर्चा करने में उपयोगी होगी समझने के लिए स्वतंत्रता शायद मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक मूल्यवान बात है शायद उससे बड़ी और कोई मूल्य की बात नहीं उससे बड़ा कोई मूल्य नहीं है क्योंकि स्वतंत्रता पहला आधार है जिससे व्यक्ति का सारा विकास हो सके इसलिए परतंत्रता मनुष्य के जीवन की सबसे बुरी दशा है और स्वतंत्रता सबसे सुंदर और श्रेष्ठ समाजवाद स्वतंत्रता पर हमला किए बिना स्थापित नहीं हो सकता स्वतंत्रता को काटे बिना स्थापित नहीं हो सकता हाँ ये हो सकता है कि बहुमत राज्य हो कुछ अल्पमत की स्वतंत्रता को काट देने के लिए लेकिन तब भी ये अनुचित है स्वतंत्रता की हत्या लोकशाही नहीं हो सकती लोकशाही की प्राण या आत्मा है विचार की स्वतंत्रता समाजवाद विचार की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि विचार की स्वतंत्रता में पूंजीवाद के समर्थन की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है वो उसे कठिन मालूम होने लगती है वो उसे मुश्किल मालूम होने लगती है वो उसे आमूल तोड़ देना चाहता है व्यक्ति की संपत्ति और व्यक्ति के विचार की स्वतंत्रता की हत्या के बाद भी अगर समाजवाद लोकतांत्रिक हो सकता है तो बहुत आश्चर्यजनक है वो कैसा लोकतांत्रिक हो सकता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म झूठा शब्द है असल में डेमोक्रेसी शब्द का आदर है सोशलिज्म उस आदर को भी छोड़ना नहीं चाहता रूस भी डेमोक्रेसी है चीन भी डेमोक्रेसी है सब डेमोक्रेसियां शब्दों के साथ आदमी बड़ा खिलवाड़ कर सकता है वो शैतान के ऊपर भी भगवान का लेबल लगा सकता है रोके कौन रोकना बहुत कठिन साफ समझ लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी पूंजीवाद का मूल्य है समाजवाद का मूल्य नहीं और डेमोक्रेसी बचेगी तो पूंजीवाद के साथ बचेगी समाजवाद के साथ लोकतंत्र नहीं बच सकता लोकतंत्र पूंजीवादी जीवन व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है वो पूंजीवाद के साथ बचेगा ऐसा ही और भी मूल्य है जो हमारी दिखाई नहीं पड़ते हमारे ख्याल में भी नहीं आते लेकिन उन सारे मूल्यों की हत्या बड़ी सुविधा से की जा सकती है उनकी हत्या की जा रही है व्यक्ति का चरम मूल्य अल्टीमेट वैल्यू व्यक्ति की है लेकिन समाजवाद व्यक्ति को नहीं समाज को कलेक्टिव को भीड़ को मूल्य देना चाहता है वो मूल्य देना चाहता है कि मूल्य है समाज का और समाज के लिए व्यक्ति का बलिदान स्वीकार योग्य है हमेशा से व्यक्ति का बलिदान होता रहा है बड़े बड़े सिद्धांतों बड़े बड़े नामों के आधार पर कभी राष्ट्र के लिए कभी धर्म के लिए कभी कुरान के लिए कभी गीता के लिए न मालूम किन किन बातों के लिए आदमी का बलिदान होता रहा लेकिन आदमी ऐसा प्राणी है जो इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता पुराने शब्द हट जाते हैं तो वो नई बलवेदियां बना लेता है और फिर उनको व्यक्ति को उस पर काटना शुरू कर देता है समाजवाद नई बल बेटी है और अगर मनुष्य के इतिहास से कोई भी शिक्षा लेनी हो तो वो एक शिक्षा लेने जैसी है और वो ये है कि व्यक्ति को किसी के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता बड़े से बड़ा राष्ट्र भी एक व्यक्ति को बलिदान करने का हकदार नहीं है और बड़ी से बड़ी मनुष्यता भी एक व्यक्ति को बलिदान करने के हकदार नहीं क्योंकि व्यक्ति जीवंत चेतना है और इस जीवन चेतना को किसी भी व्यवस्था किसी भी संस्था और किसी भी संगठन के लिए बलिदान करना खतरनाक है क्योंकि संगठन एक मृत आयोजन है एक डेड मरा हुआ इंतजाम है और मरे हुए इंतजाम के लिए जिंदा आदमी को बलिदान करना उचित नहीं लेकिन हम आदि हैं व्यक्ति की हत्या करने के और अब भी हम नई तरकीब खोज रहे हैं नई तरकीबें खोजते हैं कि व्यक्ति को किस मंदिर की बेदी पर चढ़ा दे नई बेदी समाजवाद की समाजवाद लोकशाही नहीं है समाजवाद अगर हम जबरदस्ती लाते हैं लाने की चेष्टा करते हैं तब तो वो लोकशाही हो ही नहीं सकता एक ही अर्थों में समाजवाद किसी दिन जीवन में अनायास सहज अपने आप आए तो जीवन की स्वतंत्रता की हत्या बिना किए आ सकता है अन्यथा संभव नहीं आज ही मेरे मित्र ने मुझे खबर दी वे किसी अखबार में खबर पढ़ के आए पैसिफिक महासागर में कोई छोटा सा द्वीप उस द्वीप की ज्यादा आबादी नहीं कुछ ही सौ लोग वहां है लेकिन उस द्वीप के पास फास्फोरस की खदान है और इतनी संपत्ति उस खजानों से पैदा हो जाती है कि एक एक व्यक्ति को करीब आठ हजार रुपया उससे उपलब्ध हो जाता है उस छोटे से द्वीप पर कोई गरीब नहीं है कोई अमीर नहीं है क्योंकि लोग कम है और संपत्ति ज्यादा है वो द्वीप शायद पृथ्वी पर अभी पहला समाजवाद है लेकिन वो समाजवादी नहीं है उसे पता भी नहीं कि वो समाजवादी समाजवाद के पता होने की भी कोई जरूरत नहीं संपत्ति इतनी ज्यादा है और लोग इतने कम है उन्होंने मुझे खबर दी कि वहां अगर कोई मेहमान होता है किसी के घर में और इतना कह देता है कि रेडियो बहुत सुंदर है तो घर के लोग तत्काल उसे रेडियो दे देते हैं क्योंकि वो कह देते हैं जिसे पसंद आ गई चीज उसकी हो गई संपत्ति है बहुत तो संपत्ति पर पकड़ हो गई है छीन किसी दिन इस पृथ्वी पर समाजवाद आ सकता है आना चाहिए आएगा अगर समाजवादियों ने जल्दी न अगर समाजवादियों ने जल्दी की तो वो हो सकता है कभी भी ना आ सके सदा के लिए अवरुद्ध हो जाए संपत्ति ज्यादा और व्यक्ति कम इसकी व्यवस्था जिस दिन हम कर लेंगे उस दिन लोकतंत्र की हत्या किए बिना समाजवाद आ सकता लेकिन तब उसका हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आया वो चुपचाप आ जाएगा जैसे जिंदगी में सब महत्वपूर्ण चीजें आती एक बात और ध्यान देने जैसी है इस बात को ठीक से समझ लेना क्योंकि कई मित्रों ने पूछा है कि आप कहते हैं कि श्रम का कोई उपयोग ही नहीं है पूंजी के उत्पादन में ऐसा मैंने नहीं कहा कि श्रम का कोई उपयोग नहीं है मैंने कहा यह कि श्रम आज नहीं कल नॉन एसेंशियल गैर जरूरी तत्व होता चला जाएगा रोज होता चला गया है श्रम ने पूंजी के अर्जन में साथ दिया है लेकिन सृजन का मूल केंद्र वो नहीं सृजन का मूल केंद्र मनुष्य का मस्तिष्क मनुष्य की बुद्धि है और मनुष्य की प्रतिभा है जिसने सृजन के नए नए आयाम खोजे और ये भी ध्यान रहे कि श्रम जो है वो पेरिसेबल कमोडिटी वो बहुत ही जल्दी मर जाने वाली चीज अगर मैं आज दिन भर काम न करूं तो आज दिन भर काम न करने से मेरे पास श्रम बचेगा नहीं कि मैं उसे तिजोरी में रख लू कल उसका उपयोग कर लू अगर मैंने आज दिन भर काम नहीं किया तो आज जो काम मैं कर सकता था अब वो मैं कभी नहीं कर सकूंगा क्योंकि श्रम को बचाया नहीं जा सकता श्रम रोज खो जाता है ऐसा नहीं है कि एक मजदूर किसी के घर काम न करे जिंदगी भर तो उसका शोषण ही ना होगा वो मरी जाएगा क्योंकि श्रम बचाया नहीं जा सकता वो ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने श्रम को तिजोरी में बंद कर रखा मैंने बचा लिया पूंजीवाद ने पहली दफे श्रम को बचाने की व्यवस्था खोजी वो जो पेरिसेबल कम्युनिटी थी उसको सुरक्षा योग्य बनाया धन की इजाज से श्रम बचने योग्य हुआ आज मैं श्रम करता हूं और पांच रुपए तिजोरी में बंद कर लेता हूं पांच रुपए की शक्ल में मेरा श्रम स्थायी हुआ बचा अगर पांच रुपए की शक्ल ना मिले तो श्रम गया ऐसा नहीं है कि मेरे पास श्रम होता लेकिन मजा यह है कि मैं ये कहूंगा मैंने दस रुपए का श्रम किया और मुझे सिर्फ पांच रुपए मिले जबकि अगर मैं ना करता तो एक पैसे का भी श्रम ना होता ये जो पांच रुपए मुझे मिले हैं निश्चित ही किसी दिन मुझे दस रुपए मिलने चाहिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूंजी उत्पादन की जो व्यवस्था है उसको तोड़ के दस रुपए मिल जाएंगे इस पूंजी उत्पादन की व्यवस्था को और विकासमान करना होगा पूंजीवाद जैसा आज है वैसा पर्याप्त नहीं है आप ये मत सोच लेना जैसा कई मित्रों ने कहा है कि जो पूंजीवाद आज है आप उसका समर्थन कर रहे हैं नहीं जो पूंजीवाद आज है उसमें बहुत परिष्कार की गुंजाइश जरूरत अनिवार्यता है आज जो पूंजीवाद है वो बिल्कुल प्राथमिक वो पूंजीवाद का काखागा है अभी उसे बहुत विकसित होना है लेकिन समाजवादी शोरगुल उसे विकसित नहीं होने दे रहा उसे विकसित होने भी नहीं देगा ये हो सकता है कि कल पांच रुपए की जगह दस रुपए भी श्रमिक को दिए जा सके और ये भी हो सकता है कल कि दस रुपए के श्रम की जगह बीस रुपए भी दिए जा सके और ये भी हो सकता है कि जो आदमी श्रम ना करे उसे भी दिया जा सके और अंततः अगर ठीक से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से हम गुजर जाएं तो ये भी हो सकता है कि जो आदमी श्रम की मांग करे उसे कम पैसे मिले और जो आदमी आराम करने के लिए राजी हो जाए उसे ज्यादा पैसे मिल जाए ये हो सकता है ये इसलिए हो सकता है कि श्रम की मांग बड़ी और बहुत सी चीजों से जुड़ी अगर कल आपके गांव में सारे स्वचालित यंत्र लगा दिए जाएं तो हजारों लाखों लोग बेकार हो जाएंगे लेकिन स्वचालित यंत्र जो संपत्ति पैदा करेंगे उसका करिएगा क्या इन बेकार लोगों को वो देनी पड़ेगी इनको बेकारी का मुआवजा देना पड़ेगा लेकिन कोई आदमी कह सकता है कि मैं 24 घंटे बेकार नहीं रह सकता मैं पागल हो जाऊंगा मुझे दो घंटा काम चाहिए तो इस आदमी को कम पैसा देना पड़ेगा क्योंकि दोनों बातें मांगता है पैसा भी मांगता है काम भी मांगता है इसे कम पैसा देना पड़ेगा जो बेकाम होने के लिए बिल्कुल तैयार है जो कहता हम सिर्फ पैसे ही मांग लेते हैं हम काम नहीं मांगते उसे ज्यादा भी मिल सकता है ये पचास साल के भीतर संभव हो सकता है अगर उत्पादन की व्यवस्था को परिष्कृत किया जाए और उसे जगह जगह से तोड़ने का उपाय न किया जाए तोड़ने का उपाय बहुत मजेदार और बड़ी तरकीब से भरे हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ता एक तरफ देश के नेता चिल्लाते हैं कि देश गरीब है संपत्ति उत्पादित होनी चाहिए दूसरी तरफ जो आदमी संपादित जो संपत्ति उत्पन्न करे उस पर जितनी ज्यादा संपत्ति उत्पन्न करे उतना ज्यादा टैक्सेशन वो करते चले जाते हैं ये बिल्कुल ही एक्सर्ट है ये मूर्तापूर्ण है अगर आप संपत्ति ज्यादा चाहते हैं तो जो आदमी लाख पैदा करे उस पर ज्यादा टैक्स जो दो लाख पैदा करे उस पर कम जो तीन लाख करे उस पर और कम जो दस लाख करे उस पर बिल्कुल नहीं जो करोड़ करे उसको उल्टा सरकार टैक्स दे तो संपत्ति ज्यादा पैदा हो सकती है संपत्ति के ज्यादा पैदा होने का सीधा सूत्र यह है कि लोगों के इंसेंटिव को जगाओ तो इंसेंटिव को मारते हैं आप आप कहते हैं लाख पैदा किया आप दो लाख अगर पैदा किया तो नब्बे हजार टैक्स हो जाएगा तीन लाख किया तो और टैक्स हो जाएगा चार लाख किया तो जो कमाया वो टैक्स में जाएगा और टैक्स के भरने के इंतजाम की जो दौड़ धूप वो अलग तो आदमी सोचता है कमाने की जरूरत क्या है जो कमा सकते हैं उनको आप रोक रहे हैं और जो नहीं कमा सकते वो जो बड़ा वृहत समाज है हमारा जो लिथार्जी से भरा है जो कुछ नहीं कमा सकता उसके आप गीत गा रहे हैं मुल्क को मार डालने की तरकीब है ये गीत अच्छे लग सकते हैं लेकिन ये गीत महंगे और खतरनाक है ये बड़े मजे की बात है मनुष्य समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल ही सृजनात्मक नहीं है मनुष्य समाज का बहुत बड़ा हिस्सा रोटी मिल जाए भोजन मिल जाए और बच्चा पैदा करने की सुविधा मिल जाए तो तृप्त है उसे और कुछ भी नहीं करना है मनुष्य जाति के बड़े हिस्से ने खाना खाने बच्चे पैदा करने के अतिरिक्त कोई बड़ा काम नहीं किया है मनुष्य जाति के बहुत थोड़े से हिस्से ने सृजन के फूल खिलाए हैं चाहे वो दिशा कोई भी हो कविता हो कि चित्र हो कि धन हो कि विज्ञान हो कि धर्म हो बहुत थोड़े से मनुष्यों ने शिखर पाए हैं सृजन के इनको रोकने की चेष्टा चल रही ये बहुत एब्सर्ड लॉजिक है कहते वो ये है कि संपत्ति चाहिए मुल्क को और प्रशंसा उसकी करते हैं जिसके पास संपत्ति नहीं है जिसके पास संपत्ति नहीं है उसके पास क्यों नहीं है करोड़ साल से वो भी पृथ्वी पर है उसके भी पुरखे जमीन पर थे उसके पास संपत्ति क्यों नहीं है कभी इस पर सोचा उसने संपत्ति पैदा नहीं की और बच्चे पैदा किए संपत्ति पैदा नहीं की और बच्चे पैदा किए वो दरिद्र होता चला गया उसकी दरिद्रता बढ़ती चली गई लेकिन बड़ा आश्चर्य जिन्होंने संपत्ति पैदा की वो आज अपराधी वो आज गिल्टी उनको आज समाज की सूली पे लटकना पड़ेगा उनका एक ही कसूर है कि तुमने भी बच्चे पैदा क्यों ना किए तुम भी चुपचाप बिना धन पैदा किए क्यों ना बैठे रहे तुम्हारा बहुत बड़ा पाप है कि तुमने धन पैदा किया अब वो जिन्होंने नहीं पैदा किया वो बदला लेंगे वो कहेंगे कि हम तुम्हारी गर्दन दबाएंगे तुमने हमें चूस लिया ये बड़ी आश्चर्यजनक बात ये धन चूस के पैदा नहीं हुआ है ये धन कुछ लोगों ने बड़ी प्रतिभा और बड़े श्रम से पैदा किया है इसमें बड़ी बुद्धि और बड़े आयाम की खोज लेकिन वो हमारे ख्याल में नहीं इनको हम मिटाने पर तुले हैं इनको हम काटेंगे हमारी सब तरफ तर्क यही है अभी मैं एक परिवार नियोजन के केंद्र को देखने गया सारी हुकूमत चिल्ला रही है सारा देश कोशिश में लगा है कि परिवार नियोजन हो लेकिन हमारी हमारे तर्क बड़े अजीब अगर परिवार नियोजन करना है तो फिर हमें सोचना चाहिए उसके पूरे संदर्भ जैसा मैंने कहा कि अगर संपत्ति उत्पादित करनी है तो जितनी ज्यादा जो संपत्ति पैदा करे वो पुरस्कृत होना चाहिए अभी वो दंडित होता है जब दंडित होगा तो संपत्ति किस लिए पैदा करेगा और जो पैदा नहीं करने वाला वो तो करेगा नहीं जो कर सकता था वो रुकेगा मुल्क गरीब होगा रोज रोज मुल्क अमीर नहीं हो सकता मैं गया उस परिवार नियोजन केंद्र में तो वहां सारा प्रचार किया जा रहा है मैंने उस अधिकारी को पूछा कि तुम्हें पता है कि सरकार बैचलर पर कम टैक्स लगाती है ज्यादा शादीशुदा पर कम टैक्स लगाती है कि ज्यादा जिसके दो बच्चे हैं उस पर कम टैक्स लगाती है कि ज्यादा उसने कहा कि इससे परिवार नियोजन का क्या संबंध मैंने कहा तुम तब तो इसका मतलब हुआ कि परिवार नियोजन से बुद्धि का ही कोई संबंध नहीं अगर बच्चे बढ़ते हैं किसी के घर में तो टैक्स बढ़ना चाहिए तो बच्चे रुकेंगे बच्चे बढ़ते हैं तो टैक्स कम होता है और सरकार कहती है कि हमको बच्चे कम पैदा करने बच्चे अगर बढ़ते हैं तो टैक्स बढ़ना चाहिए जिसके घर में तीन बच्चे हैं उस पर कम टैक्स जिस पे चार है और ज्यादा पांच है और ज्यादा छठवा है तो उसकी फीस कई गुनी हो जानी चाहिए स्कूल में उसकी दवाई महंगी मिलनी चाहिए क्योंकि जितने बच्चे ज्यादा होंगे उतना उस पर टैक्स बढ़ना चाहिए तो वो डरेगा और बच्चे रोकेगा लेकिन जितने बच्चे बढ़ेंगे टैक्स कम हो जाएगा गैर शादीशुदा आदमी पर टैक्स ज्यादा है शादीशुदा होने पर कम हो जाएगा अजीब बेवकूफी गैर शादीशुदा आदमी पर टैक्स बिल्कुल मत लगाओ कम करो ताकि लोग ज्यादा देर तक शादी ना करें और शादीशुदा पर जोर से टैक्स लगाओ ताकि शादी महंगी पड़ने लगे लोग देर से करें कम करें हर बच्चे के साथ टैक्स को बढ़ाओ तब तो समझ में आता है कि एक तर्क के अनुसार व्यवस्था चल रही अन्यथा बिल्कुल ही बेहूदी बात है एक तरफ चिल्लाओ कि बच्चे कम दूसरी तरफ जो बच्चे ज्यादा पैदा करे उस पर टैक्स कम करो इसका अर्थ क्या हुआ संपत्ति के मामले में भी वही हो रहा है जीवन के बहुत पहलुओं पर यही हो रहा है कि हमारे सामने कोई साफ पर्सपेक्टिव न होने से कुछ भी हम किए जा रहे हैं देश गरीब है तो संपत्ति पैदा करने की सुविधा जुटाओ देश गरीब है तो संपत्ति को सारी दुनिया से निमंत्रित करो लेकिन इस मुल्क का ख्याल ये कि दूसरे मुल्क से लोग आ जाएंगे तो हमें चूस लेंगे मैंने आपसे कहा कि श्रम अगर उपयोग में ना आए तो बिना चूसे ही खत्म हो जाता है अगर सारी दुनिया की संपत्ति इस मुल्क में आमंत्रित हो तो इस मुल्क का जो बहुत सा श्रम रोज व्यर्थ मर रहा है वो सारा का सारा श्रम पूंजी में परिवर्तित हो जाए लेकिन हमें ख्याल ये है कि अगर दूसरे मुल्क की पूंजी हिंदुस्तान में आई तो हमारा शोषण हो जाए शोषण नहीं हो जाएगा हमारा जो श्रम रोज जैसे गंगा का पानी रोज समुद्र में गिरता जा रहा है उपयोग कर लो तो ठीक अन्यथा वो गिर जाएगा नर्मदा का पानी रोज गिरा जा रहा है समुद्र में उपयोग कर लो तो ठीक अन्यथा वो गिर जाएगा ऐसे ही मनुष्य में जो श्रम की शक्ति पैदा होती वो रोज तिरोहित हो जाती अनंत में उपयोग कर लो उसे ट्रांसफॉर्म करो संपत्ति बना लो तो वो बच जाएगी लेकिन हम बड़े अजीब लोग हम कहते हैं कि दस रुपए का श्रम अगर गंगा में चला जाए तो कोई हर्जा नहीं लेकिन हम पांच रुपए पर राजी न होंगे कहीं हमारा कोई पांच रुपए का शोषण ना कर ले जैसे कि पांच रुपए हमारे पास थे और किसी ने छीन लिए कोई छीन नहीं रहा है इस शोषण कि पूरी की पूरी धारणा बड़ी नासमझी से भरी हुई है पूंजीवाद श्रम को संपत्ति में बदलने की प्रक्रिया है और अगर पूंजीवाद को ठीक से विकास दिया जाए तो सारे श्रम को संपत्ति में बदलने का मार्ग खोज ले सकती लेकिन समाजवादी कहता है कि नहीं हम राज्य के हाथ में ये सब देंगे और मजे की बात यह है कि राजनीतिक से ज्यादा अयोग्य वर्ग आज पृथ्वी पर कोई भी नहीं कभी भी नहीं था उसके कारण उसके कारण है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योग्यता का मूल्य राजनीति के क्षेत्र में योग्यता का कोई भी मूल्य नहीं है जो आदमी किसी बाजार में जूता बेचने की दुकान पर भी न रखा जा सके वो शिक्षा मंत्री हो सकता है इसमें कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि शिक्षा मंत्री के होने से शिक्षा में योग्यता का कोई संबंध नहीं राजनीति एकमात्र अयोग्यों के लिए द्वार है जिनके पास कोई योग्यता नहीं वे राजनीति के योग्य हो सकते हैं क्योंकि राजनीति किसी तरह के विशेषण किसी तरह के विशेष ज्ञान किसी तरह के विशेषज्ञता का कोई आग्रह नहीं करती है इसलिए राजनीति अद्भुत गोरख धंधा है उसमें कोई भी आदमी जो सिर्फ एक कला जानता है कि 10-20 आदमियों को अपने पीछे इकट्ठा कर सके खड़ा कर सके शोरगुल मचा सके वो आदमी राजनीति में योग हो जाता है लेकिन फिर वो करेगा क्या वो शिक्षा मंत्री बनेगा और यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और शिक्षा शास्त्री उसके आगे पीछे चक्कर काटेंगे और वो आदमी अंगूठे से दस्तखत करेगा और वो आदमी शिक्षा को संचालित करेगा ये ये समझ के बिल्कुल बाहर है वो आदमी जिसको कोई पता नहीं है मेडिकल साइंस का वो वो स्वास्थ्य मंत्री हो जाएगा और वो स्वास्थ्य का मुल्क का चिंतन करेगा मुल्क के स्वास्थ्य को ठीक करने का विचार करेगा राजनीति जहां की अयोग्य व्यक्ति के लिए गति है वो धन को भी अपने हाथ में ले लेना चाहती वो कहती इंडस्ट्री सारा धन सारा धन का उत्पादन भी राजनीतिकों के हाथ में चला जाना चाहिए वो भी वहीं से संचालित होना चाहिए मुल्क को किसी भी तरह बैंक करने की हमने मालूम होता है कसम खा रखी दिवालिया करके रहेंगे मुल्क सब तरह से दिवालिया हो जाए तब तक हम रुकने वाले नहीं मेरी अपनी दृष्टि और ही है मेरी दृष्टि यह है कि सच तो यह है कि राजनीतिज्ञ तभी इस दुनिया में मनुष्य को खतरे में ले जाने से बचाएगा बचा सकता है जब तक जब तक कि राजनीतिज्ञ सीधा ही शासन का मालिक नहीं हो जाए इस मेरी दृष्टि तो यही है कि जनता चुने प्रतिनिधियों को वे पार्लियामेंट बनाए लेकिन पार्लियामेंट कैबिनेट ना बना सके पार्लियामेंट में जो पार्टी ज्यादा बहुमत में हो वो बहुमत की पार्टी को हक हो कि वो एक शिक्षा शास्त्री को खोजे पूरे मुल्क में और शिक्षा मंत्री बनाए खोजे एक डॉक्टर को वो हक उस पार्टी का होगा जो बहुमत में है खोजे एक चिकित्सक को और स्वास्थ्य मंत्री बनाए लेकिन जनता का प्रतिनिधि स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए ये माबोक्रेसी है डेमोक्रेसी नहीं है ये वीरतंत्र हुआ लोकतंत्र न हुआ जनता अपना प्रतिनिधि चुन के भेजे जिन लोगों की ज्यादा संख्या हो पार्लियामेंट में वे लोग अपने आदमी खोजे मुल्क में लेकिन जिस पद के लिए खोजे उस पद की योग्यता पूरी होनी चाहिए तब माबोक्रेसी की जगह मेरिटोक्रेसी का इंसान आ सकता है गणतंत्र जब तक गुणतंत्र से नहीं जुड़ता तब तक गणतंत्र निपट ना समझो का हिस्सा तब तक गणतंत्र मनुष्य को नीचे ही ले जाएगा ऊपर नहीं ले जा सकता जनता का प्रतिनिधि बिल्कुल ठीक है चुना जाना चाहिए जनता को हक है अपना प्रतिनिधि चुनने का लेकिन अपने प्रतिनिधि को शिक्षा मंत्री बनाने का हक जनता को नहीं हो सकता हाँ जनता का प्रतिनिधि शिक्षा शास्त्रियों में खोजे जिनको ठीक समझे वो जनता का प्रतिनिधि चुनेगा लेकिन कैबिनेट और मुल्क के शासन का हक विशेषज्ञों के हाथ में होना चाहिए जब तक एक्सपर्ट्स के हाथ में गुणवान लोगों के हाथ में क्वालिफाइड और आज तो जीवन की प्रत्येक चीज स्पेशलाइज्ड है आज तो एक छोटी सी छोटी चीज के लिए विशेषज्ञ है आज पुराना जमाना गया कि आप गए वैद्य के पास उसने आपसे पूछे नहीं और नाड़ी देखी और दवा दे दी उसने ये भी नहीं पूछा कि पेट में दर्द है कि आंख दुखती है कि पीठ में तकलीफ है उसने नाड़ी देखी और दवा दे दी वो स्पेशलाइजेशन के पहले की बात है जब वैद्य सभी जानता था अब हालतें बदल गई मैंने सुना है कि आज से पचास साल बाद एक गांव में एक औरत एक डॉक्टर के ऑफिस में गई और उसने कहा कि मेरी आंख में तकलीफ है वो डॉक्टर उसे भीतर ले गया फिर उसने पूछा कि आपकी किस आंख में तकलीफ उसने कहा बाई आंख में उस डॉक्टर ने कहा माफ करिए मैं दाई आंख का डॉक्टर हूँ बाई आंख का डॉक्टर आगे एक आंख भी इतनी बड़ी बात है असल में कि दोनों आंख का एक ही डॉक्टर भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा एक आंख इतनी बड़ी घटना है उसकी भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी जटिलता है लेकिन जिंदगी का जो सबसे बड़ा जटिल तंत्र है राज वो अविशेषज्ञों के हाथ में वे मुल्क को बर्बाद करते चले जाएंगे और अविशेषज्ञ का मन होता है कि सब पर कब्जा कर लू धन की भी ताकत मेरे हाथ में हो उद्योग भी मेरे हाथ में हो सब मेरे हाथ में हो धर्म भी मेरे हाथ में हो विज्ञान भी मेरे हाथ में हो सब मेरे हाथ में हो अविशेषज्ञ चाह सकता है लेकिन उसकी चाह को अगर हमने पूरा होने दिया तो खतरा होगा इसलिए मैं एक धारणा आपको देना चाहता हूँ मेरिटोक्रेसी की गुणतंत्र की गुणतंत्र गणतंत्र का विरोधी नहीं गुणतंत्र गणतंत्र के माध्यम से काम करने की धारणा है और आज नहीं कल सारी दुनिया में जहां भी समझ बढ़ गई है वहां एक्सपर्ट मूल्यवान होता चला जा रहा है आज नहीं कल इस बात की बहुत संभावना है कि वो जो विशेषज्ञ है वो जो ज्ञानी है उसके हाथ में सब चला जाए एक मेरे मित्र ने खबर भेजी है कि जैसा आप आज कह रहे हैं कि सिर्फ पूंजीवादी ही जानता है पूंजी को पैदा करना ऐसा ही कुछ जमाने पहले ब्राह्मण कहते थे कि ब्राह्मण ही जानता है ज्ञान को पैदा करना अब वो ब्राह्मण कहाँ है उन्होंने पूछवाया है अब वो गए ब्राह्मण अब ज्ञान कोई भी पैदा कर रहा है ऐसे ही आप जो कह रहे हैं ये पूंजीपति भी चले जाएंगे तो भी कोई भी पूंजी पैदा करेगा उन मित्र से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें शायद पता नहीं है कि हम ऐसा नहीं कहते रहे हैं कि ब्राह्मण ही ज्ञान पैदा करता है हम ऐसा कहते रहे हैं कि जो ज्ञान पैदा करता है वो ब्राह्मण है और आज भी ब्राह्मण ही ज्ञान पैदा कर रहा है सारी दुनिया में आइंस्टीन ब्राह्मण है बनिया नहीं है और बटन रसल भी ब्राह्मण है और मार्स भी ब्राह्मण है ये सब ब्राह्मण है अगर हिंदुस्तान में मार्स पैदा होता तो कभी का महर्षि हो जाता ये सब ब्राह्मण है ब्राह्मण का मतलब क्या है कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता जन्म से बांधने की वजह से बड़ी भूल हो गई अन्याय हो गया ये धारणा कि मनुष्य चार प्रकार के होते हैं बड़ी कीमती अंतर्दृष्टि भूल तो यहाँ हो गई कि हमने जन्म से इसे बांध दिया वहां गलती हो गई कोई आदमी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता लेकिन कुछ लोग हैं जो जीवन भर ज्ञान की खोज ही जिनकी आत्मा है कुछ लोग हैं धन की खोज ही जिनकी आत्मा है कुछ लोग हैं शक्ति की खोज ही जिनकी आत्मा है कुछ लोग हैं श्रम ही जिनकी आत्मा है ये जो चार की कल्पना थी ब्राह्मण की शूद्र की वैश्य की छत्री की वो कल्पना जन्म से संबंधित होकर रुग्ण हो गई धारणा कुछ और थी धारणा ये थी कि चार टाइप के लोग हैं दुनिया में और वो धारणा अभी भी गलत नहीं है और कभी भी गलत नहीं होगी वो धारणा सदा सही रहेगी टाइप तो चार ही है कुछ लोग हैं जो धन पैदा कर सकते हैं वो कुछ ही लोग हैं जरूरी नहीं कि धनिक का बेटा धन ही पैदा कर सके ये कोई जरूरी नहीं है इसलिए लिक्विडिटी तो होनी चाहिए लेकिन धन पैदा करने की प्रतिभा कुछ लोगों में है वही वणिक ज्ञान कुछ लोग पैदा कर सकते हैं अब मार्क्स 20 साल तक ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता रहा 20 साल और इतना उसने पढ़ा कैपिटल लिखने के लिए कि जब लाइब्रेरी बंद होती तो चपरासी उसे अक्सर बेहोश हालत में घर पहुंचाते क्योंकि वो दिन भर पढ़ पढ़ के बेहोश हो जाते ये आदमी ब्राह्मण है असल में दुनिया में विचार का जन्म बिना ब्राह्मण के होता ही नहीं कहीं भी दुनिया में जब भी कोई ज्ञान लाएगा तो टाइप ब्राह्मण का होगा धन कुछ लोग पैदा कर सकते हैं और, और राजनीति की जो दौड़ है वो धनिक की दौड़ नहीं है राजनीति की जो दौड़ है अगर वो ठीक और शुद्ध हो तो वो छत्री की दौड़ है वो जो टाइप है जो शक्ति के लिए शक्ति की खोज में चलता है जीवन भर उसकी दौड़ है दुनिया में सूत्र भी मिट नहीं जाएगा हाँ सूत्र जन्म से कोई भी नहीं होना चाहिए लेकिन शूद्र का कुल मतलब इतना है कि जो श्रम कर लेता है खाना खा लेता है बच्चा पैदा करता है और मर जाता है बहुत लोग सूत्र ब्राह्मणों के घर में भी पैदा होते हैं वणिकों के घर में भी पैदा होते हैं क्षत्रियों के घर में भी पैदा होते हैं शूद्र का कुल मतलब इतना है शूद्र कोई बुरा शब्द नहीं है उसका कुल मतलब इतना है ऐसा आदमी जो खा लेता है पी लेता है पैदा कर लेता है प्रकृति का काम पूरा कर देता है और एक पशु के तल पर जी के समाप्त हो जाता है लेकिन हमारी हमारी जो सोचने का ढंग है वो ये है कि ब्राह्मण जन्म से जन्म वाला ब्राह्मण खो गया जन्म वाला धनी भी नहीं बच सकता लेकिन जिसको धन की प्रतिभा है उसे स्वतंत्रता तो बचनी चाहिए कि वो धन खोज सके सेवा जिसे करनी है श्रम जिसे करना है वो श्रम कर सके ज्ञान जिसे खोजना है वो ज्ञान खोज सके समाजवाद सब पर रोक लगाएगा लगाता है आज रूस में ज्ञान की खोज पर बुनियादी रोक है सभी तरह का ज्ञान नहीं खोजा जा सकता अगर कोई आज रूस में कहे कि मैं ध्यान के संबंध में कुछ खोज कर रहा हूं तो उपाय नहीं आज रूस में सन्यासी होने का उपाय नहीं सन्यासी की भी एक खोज है और कौन कह सकता है कि उसी की खोज अंतिम सिद्ध न होगी जब सब विज्ञान थक जाए तो पता नहीं उसी की खोज सही हो क्योंकि आइंस्टीन जैसा खोजी भी जीवन के अंत में यही कहता है कि सब खोज कर मैं जगह पहुंचा जहां मैं कह सकता हूं कि जितना खोजा उतना ही पाया कि अज्ञानी हूं जितना खोजा उतना ही पता चला और अनंत खोजने को है अंत में इतना ही कह सकता हूं कि जीवन एक रहस्य है और उसका कोई आर पार नहीं यह आदमी सन्यासी हो गया यह आदमी रहस्य के किनारे पहुंच गया लेकिन रूस में रहस्य की बात मिस्ट्री की बात नहीं की जा सकती ईश्वर वर्जित खोज खतरनाक बात है इसका मतलब हुआ कि ब्राह्मण के लिए पैदा होने के उपाय रोके गए धन भी नहीं खोजा जा सकता है अभी आज मुझे किसी ने कहा है कि रूस ने निमंत्रण किया है फोर्ड को कि वो रूस में मोटर के कारखाने डाले अमेरिका से फोर्ड को बुलाओगे और अपने मुल्क में जो फोर्ड पैदा होता है उसको पचास साल में हत्या कर दी वो तो रूस में पैदा हो सकता था फोर्ड को अमेरिका ही चलाने की जरूरत थी लेकिन आज अमेरिका को निमंत्रण देना पड़ेगा फोर्ड बुलाने के लिए क्यों क्या मामला क्या है क्या रूस के पास वो जो वैश्य था वो जो बुद्धि थी जो धन पैदा करती वो नहीं पैदा हो सकती वो हो सकती थी लेकिन उसको पचास साल में रेजिमेंट किया है उसको सब तरह से रोका और तोड़ा है उसको मिटा डाला है आज वो जंजीर में कसी है आज उसके फैलने का उपाय नहीं रह गया है समाजवाद इन चारों तरह के व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं देता इसलिए मैं मानता हूँ भी है पूंजीवाद एक मानवीय व्यवस्था है जो सब तरह के व्यक्तियों को सब तरह की दिशाओं में सब तरह की पूरी स्वतंत्रता देती है अगर नहीं दे रही है तो कोशिश करनी चाहिए कि वो पूरी दे अगर कहीं रुकावट है तो उस रुकावट को हटाना चाहिए लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि क्या जरूरत बीमारी दूर करने की बीमार को ही दूर कर दो वे कहते हैं क्या फायदा इलाज करने से मारो इस मरीज को ही पूंजीवाद में खामियां हैं वे खामियां दूर की जा सकती लेकिन कुछ लोग वे कहते हैं खामियों इतनी खामियां मारो मरीज को लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये मरीज का मरना पूरे मनुष्य का मरना हो सकता है इसी संदर्भ में मैं आपको कहूं कल मैंने गांधी जी को बनिया कहा तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई वो बनिया थे बनिया इसी हिसाब से जो मैंने अभी चार वर्ग बताए तो किसी ने कहा आपने बड़ी डेरोगेटरी टर्म बड़ी निंदा का शब्द उपयोग कर दिया कुछ लोगों को ख्याल है कि बनिया शब्द निंदा का है बनियों को भी ख्याल है कि बनिया शब्द निंदा का है कोई शब्द निंदा का नहीं है बनिया सिर्फ एक फैक्ट है वणिक एक तथ्य है वो भी एक तरह का आदमी और मैं कहता हूँ गांधी ब्राह्मण नहीं है और गांधी शूद्र भी नहीं है और गांधी छत्री भी नहीं है गांधी का मूल व्यक्तित्व बनिया का है लेकिन ये तथ्य की बात है कंडेमनेशन कुछ भी नहीं है लेकिन हम तो इतने सोचने में छीन हो गए हैं कि या तो हम प्रशंसा समझते हैं या निंदा समझते हैं फैक्ट को तो हम समझते ही नहीं कभी कि कोई बात फैक्ट भी हो सकती है अगर मैं आपसे कह फला आदमी को टीबी है तो वो कहेगा आप हमको गाली दे रहे हैं टीबी है तो है इसमें गाली की क्या बात है गांधी जी बनिया है इसलिए मैंने कहा है कोई निंदा नहीं की गांधी का पूरा व्यक्तित्व तो कुछ मित्रों ने कहा कि आप और दो चार उल्लेख दे हजार उल्लेख दिए जा सकते हैं फिर भी एक दो में देना चाहूंगा महावीर त्यागी ने संस्मरण लिखा है कि गांधी जी उनके गांव में आए रात बड़ी सभा हुई गांधी जी ने सभा के बाद लोगों से दान मांगा कोई भी जो देना चाहे दे दे किसी ने रुपया दिया किसी स्त्री ने कान कैरिंग दिए किसी ने पैर की पायल दी किसी ने चूड़ी दी गांधी वो सब वही मंच पे डालते गए लोगों से लेते गए और मंच पे डालते गए लेते गए और मंच पे डालते गए और फिर महावीर त्यागी को कह गए कि मैं जाता हूं तुम सब समेट के ले आओ वो सब समेट के कोई रात 12 बजे पहुंचा उसने सोचा कि अब गांधी जी सो भी गए होंगे लेकिन उसे पता नहीं कि वो जो बनिया की बुद्धि है वो रात सो नहीं पाती पहले हिसाब करती तो सोचा इतनी रात ना जाऊं लेकिन 12 बजे गया तो देखा कि बूढ़ा जी जाग रहा है और गांधी जी ने कहा ले आए जल्दी से खोल के सब देखा न केवल देखा बल्कि उन्होंने कहा कि फिर से जाओ इसमें एक ही एयरिंग कोई स्त्री मुझे एक एयरिंग नहीं दे सकती देगी तो दोनों देगी फिर से जाओ एयरिंग दो होने चाहिए वो महाविद्या एक बजे रात वापस भागा रोता धोता वहां गैस जला के फिर ढूंढा मिल गया वो एयरिंग बनिए की नजर बड़ी गहरी होती वो लेके लौटा बेचारा सोचा आप सो गया होगा बूढ़ा अभी जग रहा जब एयरिंग दे दिया तब उसने कहा हिसाब ठीक सो गया मैं कोई डेरोगेटरी नहीं कह रहा हूं ये दिमाग है इसमें कुछ निंदा की बात नहीं है और इस व्यक्तित्व को अगर हम समझ लेते तो हिंदुस्तान की जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ता क्योंकि बनिए के हाथ में नेतृत्व हो तो खतरे होने वाले गांधी को काम दूसरे करने पड़े काम छतरी का करते थे वो भगत सिंह ठीक से कर लेता सुभाष ज्यादा ठीक से कर लेता उनसे नहीं हो सका और उसका परिणाम हुआ कि जो बनिया कर सकता था उसने किया कि पार्टीशन हुआ आजादी कटी हुई और मरी हुई हाथ में आई क्योंकि बनिया समझौते पर सदा राजी होता है बनिया एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता अतिवादी नहीं होता वो कहता आओ आधा आधा कर ले तो गांधी के नेतृत्व का परिणाम है हिंदुस्तान का बंटवारा क्योंकि वणिक की बुद्धि जो होती झगड़े की नहीं होती वो कंप्रोमाइज की होती क्या निपटारा कर ले आधा आधा बांट ले और क्या ज्यादा झंझट हो तो गांधी ऐसा कहे या नहीं कहे ये सवाल नहीं है गांधी के नेतृत्व ने हिंदुस्तान को जो मन दिया वो बनिए का था और गांधी का इसलिए अंग्रेजों से मेल पड़ा क्योंकि वो कौम बनियों की कौम थी गांधी के सिवाय अंग्रेजों का किसी से मेल नहीं पड़ा पढ़ नहीं सकता था भगत सिंह से कैसे मेल पड़ता सुभाष से कैसे मेल पड़ा गांधी से पढ़ा पढ़ा इसलिए कि दोनों का माइंड एक टाइप का था बनिया कौम थी इधर भूल से ताकत मिल गई थी इधर बनिया लड़ने वाला था इसलिए देख के बड़ी हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने गांधी की जितनी सुरक्षा की दुनिया में किसी राज्य ने कभी राज्य के दुश्मन की ऐसी सुरक्षा नहीं की हम ना बचा सके गांधी को अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों के वक्त गांधी बचा था ये बड़ी मजे की बात है अंग्रेजों ने पूरी सुरक्षा दी गांधी को क्योंकि अंग्रेजों को साफ हो गया कि नाता इसी से बनाकर रखो आज नहीं कल यही आदमी काम का बाकी सबसे झंझित हो जाएगी इस गांधी और अंग्रेजों के बीच एक इनर कम्युनियन जिसको कहते हैं एक भीतरी संबंध हो गया वो संबंध होना बिल्कुल निश्चित था वो बिल्कुल स्वाभाविक था वो टाइप एक था अंग्रेज गांधी को समझ सके गांधी अंग्रेज को समझ सके और इसलिए तालमेल बैठ गया इसलिए हिंदुस्तान में आजादी ना आ पाई हिंदुस्तान को आजादी मिली और मिली हुई आजादी गुलामी से भी बदतर होती है आजादी छीनी जाती है ली जाती मांगी नहीं जाती आजादी समझौतों से वार्ताओं से नहीं मिलती आजादी ली जाती और जब आज़ादी दी जाती है तो उसमें एक जिंदगी होती है उसकी पूर्ण गति होती है और जब आज़ादी मिलती है तो लोथरे मरे हुए लोथरे की तरह होती मिली आज़ादी लेकिन बेरोजन उसको कोई महिमा नहीं मिली इसलिए और मिलने का जो दुष्परिणाम हुआ वो भी हुआ गांधी रोक रोक समझाते रहे पूरे मुल्क को हिंसा नहीं हिंसा नहीं क्योंकि बढ़िया हिंसा नहीं कर सकता क्या आपको तो ख्याल है कभी कि महावीर छत्री थे लेकिन उनके पीछे जो कौन इकट्ठी हुई वो बनियों की महावीर छत्री है जैनियों के चौबीस तीर्थंकर छत्री है लेकिन जैनी कोई छत्री नहीं वो सब बनिए बात क्या है बनियों को अहिंसा अपील करते और कोई बात नहीं महावीर की अहिंसा बनियों को अपील की वो जो मुल्क के भीतर बनिया दिमाग था उसने कहा यह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि न हम हिंसा करेंगे न दूसरा हमारी हिंसा करेगा जस्ती है ये बात सम्मिलित हो जाओ गांधी के हाथ में होने की वजह से अहिंसा आंदोलन बनी और अहिंसा के आंदोलन की वजह से हिंदुस्तान को बड़े दुर्भाग्य भी झेलने पड़े बड़ा दुर्भाग्य तो यह हुआ कि हिंदुस्तान के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जो बिल्कुल सहज घृणा और हिंसा थी गांधी ने उसको कभी प्रकट न होने दिया उसको दबाया उसको सप्रेस किया जरा कहीं हिंसा प्रकट हुई कि गांधी का बनिया पीछे हट गया उसने कहा कि नहीं भाई हम दुकानदार आदमी हम समझौता करते हैं हम ऐसी बात नहीं करते वो पीछे हट गया मुझे कहानी याद आती मुझे ख्याल आता है कि कहीं राजपूताना में एक छोटी सी कहानी है लोक कहानी है कहानी है कि एक एक, एक छत्री है राजपूत है वो मुझ पर ठाव देता है और अपने घर के सामने बैठा रहता है और उसने गांव भर में खबर कर दी कि मेरे घर के सामने दूसरा आदमी मुझ पर ताव देकर नहीं निकल सकता है तो दूसरे लोग अपनी मूछ वहां नीचे कर लेते हैं कौन झगड़ा झंझट करे वो अपने तखत पर बैठा रहता तलवार लिए एक बनिया नया गांव में आया उसको भी मूछ रखने की धोने वो उसके सामने से निकला उसने कहा बनिया रोक मूछ नहीं चिका पहले मूछ नहीं चिका उसने कहा तू कौन मेरी मूछ नीची करने वाला तो उसने कहा लिए तलवार संभाल आ हम निपटारा कर ले उस बनिए ने यहाँ तक नहीं सोचा था कि तलवार और निपटारा हो जाए उस बनिए ने कहा अच्छा तलवार उसने कहा ठीक लेकर एक काम करो अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे परेशान होंगे पत्नी परेशान होगी अगर तू मर जाएगा तो तेरी पत्नी विधवा होगी बच्चे भी मांगेंगे तो एक काम कर तू पहले अपने घर में जाके अपने पत्नी बच्चों का सफाया करे और मैं अपने घर में कर आता हूँ फिर हम दोनों लड़ते फिर कोई डर नहीं छतरी ने कहा तो बिल्कुल ठीक अकली होती छतरी के पास ज्यादा तो मुझ पे ताव देकर न बैठे रहते बनिया घर गया छतरी अपने घर गया उसने तो फैसला कर दिया पत्नी बच्चे सब काट डाले बाहर आके खड़ा हो गया दुनिया वहां से ऊंची नीच करके आ गया उसने कहा मैंने सोचा क्यों नहान का झगड़ा करना ये जो माइंड है डेरोगेटरी नहीं है इसमें कोई निंदा नहीं है कोई बात छत्री ऐसा है बनिया ऐसा है दिस इज ट्रू इसमें कोई किसी की निंदा की बात नहीं गांधी जब भी झंझट में पड़े कहीं चोरा चोरी हो जाए कहीं कुछ हो जाए फौरन बीच और देखा इससे तो बेहतर मुझ नीचे कर लो झगड़ना नहीं लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदुस्तान के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जो सहज घृणा पैदा हुई थी हिंसा पैदा हुई थी वो दब गई और उस दबाव की वजह से हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हुए अगर हिंदुस्तान अंग्रेजों से सीधा लड़ता तो हिंदू मुसलमान कभी भी न लड़ते जब हम न लड़ पाए और घृणा इकट्ठी हो गई तो वो कहीं निकलेगी वो जाएगी कहाँ तो हमें रास्ता खोजना पड़ा हिंदू मुस्लिम दंगे हुए आमतौर से लोग समझते हैं कि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने की कोशिश की मैं आपसे कहता हूँ गांधी जी ही जुम्मेवार थे सारे हिंदू मुस्लिम दंगे के अगर थोड़ी भी साइकोलॉजी का थोड़े भी मन शास्त्र का ख्याल हो तो समझ में आएगी बात इतनी जोर से रोक दी सब तरफ से हिंसा जो बिल्कुल स्वाभाविक थी हिंदुस्तान आग लगा दे अंग्रेजों को फेंक दे मुल्क के बाहर वो रोक दिया अब वो कहाँ जाए वो घृणा कहाँ से निकले आपको पता है एक आदमी दफ्तर में काम करे मालिक उसको डांट दे आप तबीयत तो हो कि गर्दन दबा दें इसकी लेकिन मालिक की गर्दन कैसे दबाओ वो हंसता रहे मुस्कुराता रहे पूछ हिलाता रहे फिर घर चले फिर उसकी साइकिल वो पैडल जोर से चलेंगे क्यों वो मालिक को जो नहीं मार पाया जूते वो पैडल पर ही जोर आजमा रहा है अब वो जा रहा है तेजी से अब उसको पत्नी को समझ जाना चाहिए कि पति परमात्मा घर लौट रहे और मालिक से कोई झंझट होगी लेकिन पत्नी को क्या पता वो बड़े मजे से प्रतीक्षा कर रही है कि पति देव लौटते होंगे पति देव लौट रहे हो पति को भी पता नहीं लेकिन वो गर्दन पकड़ेगा पत्नी की रोटी चल गई बिस्तर ठीक नहीं लगा हजार बातें पकड़ लेगा फोन पत्नी को ठीक किए बिना नहीं मानेगा उसको करना था मालिक को ठीक डेविएट हो गई वो नहीं कर पाया मालिक को ठीक घृणा भीतर की वो निकास चाहती है वो बहेगी अगर भीतर की नाली बंद कर देंगे तो घर भर में गंदगी बहेगी नाली भी चाहिए घर में हिंसा है उसका बहाव भी चाहिए अगर वो ठीक जगह न बह जाए तो गलत जगह से बहेगी और ठीक जगह से बही हुई हिंसा की बजाय गलत जगह से बही हुई हिंसा बहुत महंगी महंगी पड़ी लेकिन पत्नी क्या कर सकती पति को मार नहीं सकती अभी तक पत्नी की इतनी हिम्मत नहीं हुई हो जानी चाहिए लेकिन पतियों ने समझाया हुआ है पतियों ने समझाया हुआ है कि हम परमात्मा है तो परमात्मा को मारो तो झंझट हालांकि मन में सब तो उठता है कि कैसा परमात्मा है लेकिन मानना पड़ता है क्योंकि उसी ने प्रचार किया हुआ तो पत्नी बेटे की रास्ता देखेगी लौटता होगा स्कूल से ये सब अनकॉन्सियस डेविएशन है बेटा चला आ रहा है नाचता हुआ उसे कुछ पता नहीं फिल्म का गीत गाता हुआ पकड़ लेगी माँ गर्दन की गंदे गीत गा रहे हो कल भी यही गा रहा था परसों भी यही गा रहा था तुमने भी यही गाया तुम्हारे पति ने भी यही गाया उनके बाप दादे भी यही गा रहे थे इस कोई नया नहीं गा रहा है लेकिन उसकी गर्दन पकड़ लेगी गंदा गीत गा रहे हो और वो बेटा क्या करे माँ को थप्पड़ मारे अभी तक दुनिया इतनी शब्द नहीं हो पाई वो बेटा जाएगा अपने अंदर के कमरे में गुड़िया की टांग तोड़ के चार हिस्से करते माइंड की एनर्जी से है गांधी ने हिंदुस्तान की हिंसा को रोक के डेविएशन पैदा किया वो अंग्रेजों की तरफ बड़ी होती तो शानदार मुल्क पैदा होता हिंदुस्तान पाकिस्तान दो मुल्क नहीं एक मुल्क पैदा होता और लड़के निखरा हुआ मुल्क पैदा होता लड़के तलवार पर धार आ गई होती लड़के हमारी जिंदगी में रस उमंग आशा आ गई होती वो नहीं हो पाया लेकिन तलवार हमें चलानी पड़ी फिर हमें पड़ोस में चलानी पड़ी फिर मुसलमान हिंदू टकराए और इसीलिए पंद्रह अगस्त के बाद इतनी बड़ी हिंसा हुई जिसमें दस लाख लोग मरे इसका जिम्मेवार कौन लोग बहुत बेईमान है वो कहते हैं अंग्रेजों ने भड़का दी कोई कहता है फलों ने भड़का दी कोई कहता है जिन्ना ने भड़का दी नहीं साहब न जिन्ना न अंग्रेज असली कारण यह है कि हिंदुस्तान के मन में आग की उसको निकलने का कोई मौका नहीं जब हिंदुस्तान बटा एक मौका मिल गया जब ठीक है निकाल दो वो राहत निकली सैकड़ों वर्ष से गुलामी की जो पीड़ा थी उसको बहने का कोई उपाय न था वो बही हिंदुस्तान भी बटा लोग भी मरे अगर दस लाख लोग ही मरने थे तो अंग्रेजों से हम कभी का छीन लेते दस लाख लोग मरने को किसी भी दिन तैयार होते तो अंग्रेज उसके दूसरे दिन हिंदुस्तान में ना हो लेकिन वो नहीं हो सका तो जब मैं कहता हूँ गांधी बनिया है तो सोच के कह रहा हूँ गाली नहीं दे रहा हूँ और समझ लेना कि वो बनिया है इसलिए आगे भी उनसे समझ के संबंध रखना इस मुल्क का संबंध बनियागिरी से अगर रहे तो मुल्क के भीतर प्राण पैदा नहीं होता लेकिन बनिया का अपना उपयोग है उसकी अपनी जगह वो अपनी जगह कीमती छत्री का अपना उपयोग है वो अपनी जगह कीमती है ब्राह्मण का अपना उपयोग है वो अपनी जगह कीमती है शूद्र का अपना उपयोग है वो अपनी जगह कीमती है और किसी की कीमत मानवीय अर्थों में कम और ज्यादा नहीं लेकिन ये साफ साफ होना चाहिए समाजवाद इस सबको लीप पोत देना चाहता है वो मनुष्यों में जो विभिन्न टाइप है उनको पहुंच डालना चाहता है वो कहता मनुष्य एक जैसा है मनुष्य एक जैसा नहीं है अंतिम एक बात और एक मित्र ने कहा है कि आपने कहा कि गांधी जी ट्रेनों का विरोध करते थे टेलीग्राफ का विरोध करते थे हवाई जहाज का विरोध करते थे और भी दो तीन मित्रों ने पूछा है कि आप गलत बात कह रहे हैं ये कहाँ लिखा हुआ है तब मैं बहुत हैरान होता हूँ मालूम होता है कुछ आप पढ़ते लिखते नहीं गांधी की किताब हिंद स्वराज्य पढ़े तो मैंने जितना कहा है उससे हजार गुना ज्यादा विरोध उसमें यंत्रों का लिखा है लेकिन हिंद स्वराज 1905 में लिखी थी इसलिए कोई कहेगा 1905 में लिखी किताब के बाबत उन्नीस में मरने अड़तालीस में मरने वाले आदमी के बाबत निर्णय लेना ठीक नहीं मैं भी नहीं मानता लेकिन 1945 में नेहरू को गांधी ने पत्र लिखा है नेहरू ने पूछा है गांधी से कि 1905 में लिखी हिंद स्वराज नाम की किताब में आपने रेलगाड़ी का टेलीग्राफ का विरोध किया है क्या आप अब भी उस विरोध से राजी हैं तो गांधी जी ने लिखा उन्नीस में कि मैं हिंद स्वराज से शब्द शब्द आज भी राजी हूँ मालूम होता है पढ़ते लिखते नहीं चिट्ठियां तो बहुत से लोगों ने लिख दी कि आपको तथ्य का पता नहीं सच बात यह है कि गांधी भी बहुत कम पढ़े लिखे आदमी थे और उनको मानने वाले और भी कम पढ़े लिखे आदमी थे मेरी अपनी समझ यह है कि इस सदी में जो आदमियों के कीमती नाम है उनमें गांधी सबसे कम पठित आदमी थे इस सदी का जो भी महत्वपूर्ण खोज है गांधी उससे अपरिचित थे गांधी न फ्राइड को जानते थे न जुंग को और ब्रह्मचर्य पे वो जो बातचीत कर रहे थे वो तीन हजार साल पहले की बिल्कुल आउट ऑफ डेट थी गांधी को संतति निग्रह के बाबत कोई बोध नहीं था गांधी को मार्क्स भी गांधी ने 1942 की जेल में पढ़ा वो भी पूरा पढ़ा होगा मुझे शक क्योंकि उनकी कोई पकड़ उस पर गहरी कभी भी नहीं बैठ पाई गांधी गीता पढ़ रहे थे रामायण पढ़ रहे थे लेकिन गीता और रामायण आज की दुनिया में ज्ञानी के नहीं गांव के ग्रामीण अज्ञानी के अध्ययन शास्त्र है गांधी जी भी बहुत कम पढ़ लिख रहे थे बहुत कम सोच समझ रहे थे और उनके मानने वाले तो दिखता है गांधी को भी नहीं पढ़ते लिखते और सोचते समझते एक अंतिम बात एक मित्र ने पूछा है कि आपने गांधी और उनके आचार और विचार में कहा विरोध है लेकिन आपने कोई उदाहरण नहीं दिए तो मैं एक दो तो छोटे उदाहरण देना चाहूँ गांधी जीवन भर अहिंसा का उपदेश देते हैं लेकिन गांधी का व्यक्तित्व वायलेंट है हिंसक है एकदम हिंसक व्यक्तित्व है लेकिन बातचीत वो अहिंसा ही करते आप कहेंगे कि आप कैसे कह रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा समझना पड़ेगा अगर मैं आपकी छाती पे छोरा लेके खड़ा हो जाऊं कहीं कि मेरी बात मानते हैं कि नहीं नहीं तो छोरा मार दूंगा तो आप कहेंगे बड़े हिंसक आदमी हो उल्टा कर ले मैं आपकी छाती पे छुरा नहीं उतना छुरा अपनी छाती पे रखता हूँ और कहता हूँ मेरी बात मानते हो कि नहीं तो मैं छुरा मार दूंगा तब मैं अहिंसक हो जाऊंगा छुरा का सिर्फ दिशा बदल जाने से आदमी अहिंसक हो जाता है गांधी जिंदगी भर ये धमकी दे रहे हैं कि मैं अपने को मार डालूंगा अगर मेरी बात नहीं मानते ये हिंसक दबाव कोहेशन अम्बेडकर को गांधी ने दबाया उपवास और अनशन करके गांधी ने जिंदगी में किसी का हृदय परिवर्तन नहीं किया इतने उपवास किए किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ अम्बेडकर बेचारा झुक गया राजी हो गया बाद में अम्बेडकर ने कहा कि गांधी जी इस भ्रम में न पड़े कि मैं मेरा कोई हृदय परिवर्तन हो गया है मैं अब भी मानता हूं कि मैं ही सही था और गांधी गलत थे लेकिन फिर भी मैंने ये सोच के इस आग्रह के पीछे अगर गांधी की जिंदगी चली जाए तो महंगा सौदा हो जाएगा मैं चुप गया मैंने मेरा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ गांधी की जबरदस्ती की वजह से चुप गया गांधी मरने की धमकी जिंदगी भर देते रहे मरने की या मारने की दोनों धमकियां हिंसक है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता हमें दिखाई पड़ता है कि क्या खुद को मारने की धमकी दे रहे हो तो अहिंसा हो गई सच बात यह है कि बहुत सूक्ष्म हिंसा है यह अहिंसा नहीं है अहिंसा अहिंसा का मतलब यह है कि जहां धमकी ही नहीं है न दूसरे को मारने की न खुद को मारने की तो गांधी जी के साथ जो लोग रहे गांधी के बेटों से पूछे हरिदास गांधी से पूछे कि गांधी अहिंसक थे तो हरिदास मुसलमान क्यों हुआ गांधी अहिंसक थे तो हरिदास ने शराब क्यों की मांस क्यों खाया गांधी अहिंसक थे तो हरिदास जिंदगी भर गांधी के खिलाफ क्यों रहा असल में गांधी की अहिंसा भी इतनी टार्चर और इतनी सेटिस्ट थी कि अपने बेटों को भी उन्होंने अच्छी तरह सता डाला हरिदास भागा उनको छोड़कर कि बाप तो मार डालेगा उसे पता नहीं था कि एक बेटे का बाप जो ठीक से नहीं हो पाया वो कल राष्ट्रपिता होने वाला है असल में एक बेटे का बाप होना बहुत कठिन है राष्ट्रपिता होना बहुत आसान है क्योंकि राष्ट्रपिता होने में किसी का पिता नहीं होना पड़ता है हरिदास से पूछे तो पता चलेगा कि गांधी का व्यक्तित्व हिंसक था कि अहिंसक था कस्तूरबा से पूछे हालांकि कस्तूरबा और गांधी को लेकर भी बहुत लेख लेके जा रहे हैं कि बड़ा आदर्श दाम्पत्य जीवन था हम तो बकवास करने में हमारी कौन का कोई मुकाबला ही नहीं अब गांधी और कस्तूरबा के बीच सतत कले की जिंदगी भी थी लेकिन दाम्पत्य जीवन था कस्तूरबा से पूछे पूरी जिंदगी उठा के देखें लेकिन उसको देखने की जरूरत नहीं हम तो शोरगुल मचाने में नारेबाजी करने बड़े कुशल हैं अब गांधी के घर में अगर अफ्रीका में कोई मेहमान होता तो उसका पाखाना भी वो कस्तूरबा से साफ करवा दे अब कस्तूरबा रो रही रोटी हुई पाखाने का डब्बा लेके सीढ़ियां उतर रही तो गांधी उससे नीचे खड़े होकर कह रहे हैं कि रो मत सेवा हंस के करनी चाहिए अब उसको बेचारी को दूसरे का पाखाना धोना पड़ रहा है वो कोई सेवा नहीं कर रही वो सिर्फ पति के चक्कर में पड़ गई और पति एक सिद्धांत के चक्कर में वो पाखाना धुलवा रहा लेकिन सांस में ये भी कि हंसते हुए पाखाना धो कई बार कस्तूरबा का हाथ पकड़ के आधी रात गांधी ने घर के बाहर कर दिया कि निकल जा घर के बाहर अगर मेरे सिद्धांत नहीं मानते ये व्यक्तित्व अहिंसक नहीं ये व्यक्तित्व बिल्कुल हिंसक है लेकिन सिद्धांत तो अहिंसा का है असल में अहिंसा के सिद्धांत के कारण गांधी के व्यक्तित्व को समझना मुश्किल हो गया जिंदगी बड़ी ऊंची बात है इतनी आसान नहीं इसलिए जब मैं कुछ कहता हूँ तो बहुत जल्दी निर्णय न ले सोचे जब मैं कह रहा हूँ तो कंसिडर्ड कुछ सोच के कह रहा हूँ और गांधी के वक्त समझते हैं कि प्रश्न लिखवा के वो कोई गांधी की रक्षा कर रहे हैं तो गलती में वो जितने प्रश्न लिख के भेजेंगे गांधी को उतना पिटवा देंगे गांधी का कुछ मेरे मन में गांधी के लिए कोई जगह नहीं मैं गांधी को बिल्कुल ही रुग्ण व्यक्तित्व मानता हूँ इसलिए नाहक प्रश्न लिखवा लिखवा के उनको फंसाए मत अभी उनकी कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ बीच में अभी मैं समाजवाद पूंजीवाद पर बात कर रहा हूँ आप नाहक उनको फंसा के पिटवा देते कोई जरूरत नहीं है कल सुबह ध्यान के संबंध में एक सूचना जो मित्र आना चाहते हैं वो स्नान करके आठ बजे के पहले वहां पहुंच जाए मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उससे बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करें